आज सल्ले आला की आमद आमद सल्ले आला की आमद है आज सल्ले आला की आमद है जिसका नहीं है कोई सानी जिसका नहीं है कोई सानी उस आका की आमद है आज सल्ले आला की आमद आमद सल्ले आला की आमद है आज सल्ले आला की आमद है मक्के की गलियों में आ बाद बहारी मक्के की गलियों में आई कहती हुई ये बाद बहारी कहती हुई ये बाद बहारी कहती हुई ये बाद बहारी अब्दुल्ला के घर आंगन में अब्दुल्ला सल्ले अला की आमद आमद सल्ले अला की आमद है आज सल्ले अला की आमद है जिसका नहीं है कोई सानी जिसका नहीं है कोई सानी उस की आमद है आज सल्ले अला की आमद आमद सल्ले अला की आमद है आज सल्ले अला की आमद है दाई हलीमा तेरा था जाग उठा है दाई हलीमा तेरा मुकदर सोया हुआ था जाग उठा है सोया हुआ था जाग उठा है सोया हुआ था जाग उठा है तेरे कच्चे से आंगन में तेरे सल्ले अला की आमद आमद सल्ले अला की आमद है आज सल्ले अला की आमद है जिसका नहीं है कोई सानी जिसका नहीं है कोई सानी उस की आमद है आज सल्ले अला की आमद आमद सल्ले अला की आमद है आज सल्ले अला की आमद है दूर बलाए कर उम्मत का गम भरने वाला दूर बलाए करने वाला उम्मत का गम भरने वाला उम्मत का गम भरने वाला उम्मत का गम भरने वाला मोहसिन आजम रहमत आलम मोहसिन आजम रहमत आलम सल्ले अला की आमद है आज सल्ले आला की आमद आमद सल्ले आला की आमद है आज सल्ले आला की आमद है जिसका नहीं है कोई सानी जिसका नहीं है कोई सानी उस आका की आमद है आज सल्ले आला की आमद आमद सल्ले आला की आमद है आज सल्ले आला की आमद है बारह रबी उल्ला अव्वल का दिन सबसे बड़ा त्यौहार है मोहसिन बारह रबी अव्वल का दिन सबसे बड़ा त्यौहार है मोहसिन सबसे बड़ा त्यौहार है मोहसिन सबसे बड़ा त्यौहार है मोहसिन खुशियाँ मनाओ घर को सजाओ खुशियाँ मनाओ घर को सजाओ शमसुद्दीन आमद है आज सल्ले आला की आमद आमद सल्ले आला की आमद है आज सल्ले आला की आमद है जिसका नहीं है कोई सानी जिसका नहीं है कोई सानी उस की आमद है आज सल्ले आला की आमद आमद सल्ले आला की आमद है आज सल्ले आला की आमद है